यकीन वो सृष्टा उसे दोबारा पैदा करने की सामर्थ्य रखता है जिस दिन छिपे रहस्यों की जांच पड़ताल होगी उस समय इंसान के पास न खुद अपना कोई जोर होगा और न कोई उसकी मदद करने वाला होगा कसम है वर्षा करने वाले आसमान की और वनस्पतियों के उगते समय फट जाने वाली जमीन की ये एक जची तुली बात है हंसी मजाक नहीं है ये लोग अर्थात मक्का के काफिर कुछ चालें चल रहे हैं और मैं भी एक चाल चल रहा हूं अतः छोड़ दो ए नबी इन इनकार करने वालों को थोड़ी देर के लिए इनके हाल पर छोड़ दो